फिर जिन लोगों ने इनकार की रविश अपनाई थी मैंने उन्हें पकड़ में ले लिया अब देखो कि मेरी सजा कैसी हौलनाक थी